मनसे प्रतिष्ठिता मनोमये वाचि प्रतिष्ठितम् आविरा ऋग्वेदी ऐतरोपनिषद द्वितीय अध्याय तक कुछ विचार हुआ द्वितीय अध्याय में इस जीव की गति को बता करके वैराग्य के लिए कहा गया वैराग्य के बिना जब तक ये शरीर आदि इंद्रिया आदि विषयों से वैराग्य नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान का अधिकारी होता नहीं वैराग्य प्रधान है अगर अध्यात्म में जाना हो तो वैराग्य के प्रधान तो वैराग्य का निर्माण किया किस तरह से जीव की गति होती है कैसे कैसे स्थानों में गुजरता है किस तरह से रहता है तया आवश्यकता इत्यादि करके कहा था तीन इसके स्थान है कहा था तो पितृशरीर मातृशरीर स्वशरीर आदि तीन स्थान और तीन जन्म इसका होता है पहले शरीर से मातृशरीर शरीर आना एक जन्म है मातृ शरीर से बाहर आना दूसरा जन्म है और फिर यह शरीर नाश के बाद तीसरा जन्म होना तीसरा जन्म इस तरह से जीव की गति बताई वैराग्य की तो वैराग्य के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है दोनों चाहिए केवल विद्वान होना एक अलग विषय है वैराग्य होना अलग है दोनों की आवश्यकता है वैराग्य बोधौ पुरुष पक्षीवत तो मनुष्य का पक्षी के समान है वैराग्य और ज्ञान मान परोक्ष ज्ञान साधन काल में परोक्ष ज्ञान चाहिए वैराग्य भी चाहिए किसके लिए अपरोक्ष करने के लिए साधन वैराग्य बोधो पुरुष से पक्षवत पक्ष बीजानी ही विचक्षणत्व विवेक कहा उसे वैराग्य और बोध मन ज्ञान परोक्ष ज्ञान ये दोनों साधन है जैसे पक्षी के लिए एक पक्ष से पक्षी उड़ नहीं सकता दो पक्षों की आवश्यकता है तो इसी प्रकार साधक के जीवन में भी दो बातें चाहिए आत्मा का परोक्ष रूप से ज्ञान हो और वैराग्य हो तभी अपरोक्ष के लिए साधन तभी अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए तब चल पड़ता है ये पक्ष है दोनों दोनों पंख हैं जैसे एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता इसी प्रकार दो में से कोई एक साधन हो आपके पास जीवन में वैराग्य हो अथवा परोक्ष ज्ञान काम नहीं चलेगा दोनों की आवश्यकता है तो इसलिए पूर्व में वैराग्य की चर्चा कर दी अब आत्मज्ञान के लिए क्या है आत्मा ढूंढते हैं जिज्ञासा होती है वैराग्य उत्पन्न होने के बाद संसार से भोगों से और भोग के साधन संज्ञा विषय में वैराग्य हो तब आत्मज्ञान की जिज्ञासा होगी आत्मा के विषय में जिज्ञासा होगी इसके लिए कहना है तो आगे जिज्ञासा करते हैं मंत्र है आगे ओम कोयम आत्मा

ऋषि लोग ब्रह्मवेत्ता लोग विचार करने लगे परोक्ष ज्ञान है इसी शरीर के भीतर आत्मा है कौन आत्मा है विचार करने लगे वैराग्य है शरीर आदि से कोयम आत्मा इति यह आत्मा कौन है जिसकी उपासना करने से वामदेव साक्षात अमर हो गए अमृत समभवत अमृत समभवत पूर्व में समंत्र आया हम ब्रह्मास्म सज्ञान होने से वामदेव आदि विशिष्ट मुक्त हो गए वो आत्मा कौन है इसलिए वो अयम आत्मा कि वयम उपासना है कतरा सा आत्मा हम जिसकी उपासना करते हैं उपासना करने में उपासना के लिए प्रवृत्त हैं तैयार है उपासना का हम भी उस चिंतन करना चाहते हैं आत्मा का चिंतन करना चाहते हैं वो आत्मा पता रहा दो में से कौन है शरीर तो आत्मा हो नहीं सकता निश्चित है ये ब्रह्म ब्रह्म के विचार है तो कौन होगा दो यहां प्रविष्ट दिखाई पड़ा है पूर्वम से एक तो प्रपदाभ्याम अग्रे प्राप्तता है पैर के अंगूठे को विदारण करके प्रवेश हुआ है मैंने सूक्ष्म शरीर का पुंज मुख्य रूप से प्राण है जिसमें और एक एतया एतम एवं सीमानम विदारे एतया द्वारा प्राप्त किसी मूर्धा को विदारण करके सीमा को विदारण कर यहीं से प्राप्त प्राप्त हुआ इसमें ये पो में से कौन आत्मा है यानी सविशेष है कि निर्विशेष है अगर पैर के अंगूठे से प्रविष्ट तो हुआ है तो सविशेष है प्राण सूक्ष्म शरीर का पुंज हिरण्य गर्भ जिसको बोलते हैं समष्टि रूप में वो है या निर्विशेष आत्मा यहां प्रविष्ट है आत्मा कौन है ये विचार करें हैं सा आत्मा क्योंकि डतरथ प्रत्यय जो होता है दो के निर्धारण दो में से एक के निर्धारण में दतरथ होता है किम यद तदो निर्धारण में दो एक दतरथ पर चलेगा किम सकता ये दो में से कौन आत्मा हो सकता है शरीर तो आत्मा नहीं हो सकता किंतु प्राण रूप आत्मा है माने प्राण पुंज सारे इंद्रिय समुदाय मिला हुआ या निर्विशेष आत्मा है कौन आत्मा हो सकता है ऐसा निर्णय करने पर आगे विचार पाएंगे जो सीमा से विदारण करके प्रविष्ट हुआ वही है ऐसा विचार मन में आएगा कहना चाहते ये पश्यति जिसके द्वारा देखता है वो आत्मा है और जो देखता है वो आत्मा ये प्रश्न है जिसके द्वारा देखता है प्राण आदि के सहाय से आत्मा देखता है मैंने चक्षु ये भी प्राण है प्राण पुंज ही हो तो ये नवा पश्यति जिसके द्वारा ये देखता है रूपादि को देखता है वो आत्मा है अथवा जो देखता है वो आत्मा ये दो में से करने का मैं करण रूप आत्मा है प्राणाधिकरण रूप में है या कर्ता रूप आत्मा है संशय ये श्रीमती अथवा जिनसे सुनता है अथवा जो सुनता है दो में भेद होगा जो सीमा से प्रविष्ट हुआ है सुनने वाला है और ये जो प्रपक्ष पैर के अग्रभाव से प्रविष्ट हुआ है सुनने के साधन है वो सर्वाधिक ये नवा पश्यति मान ये नवा श्रृणति जिसके द्वारा सुनता है अथवा जो सुनता है ऐसा विकल्प होगा बा है जिससे सुनता है अथवा जो सुनता है इसी प्रकार ये नवा गंधान आजिग्रति बा लगा यहां अथवा यह जिग्रति ऐसा हो जाएगा जिसके द्वारा गंधों को सुरभि और दुर्गति सुरभि और असुरभि गंधों को ग्रहण करता है मैंने घ्राण इंद्रिय से प्राण हो सकता है अथवा जो जिग्रहण करने वाला है ध्यान क्रिया करने वाला आत्मा वो हो सकता है ये नवा वाचम करोती जिसके द्वारा ये बाच माने शब्द शब्द को व्याकृत करता है व्यवहार में लाता है शब्द को वो है अथवा जो वाणी का व्यवहार करता हुआ है इसमें ये नवा स्वादु असाधु जानाती जिसके द्वारा स्वादु असाधु जानता है जीवा के द्वारा अथवा जो जानने वाला है या करण है कि करता है ये संशय है कौन आत्मा है दोनों से एक तो पैर के अंगूठे से प्रविष्ट है करण रूप आत्मा है सविशेष ब्रह्म है वो हिरण्य गर्भ जिसको बोलते हैं समष्टि में दृष्टि में प्राण आदि बोला गया है और एक है आत्मा निर्विशेष आत्मा जो सीमा को विदारण करके मुर्दा को विदारण करके वितरा करता है तो दो में से कौन आत्मा है जिसकी हम उपासना करते हैं आत्मा कौन है ऐसा विचार करते ब्रह्मवेत्ता लोग होता है टिप्पणियां हैं कोयम नहीं एक नंबर का कोयम आत्मा इति अनंतरम एवं अयम आत्मा इति साक्षात उपासनो वामदेव अमृता समभव विशेष कोयम आत्मा में इतना शेष लगाना होगा क्या एवं अयम आत्मा इति साक्षात ये आत्मा है करके जिसने साक्षात उपासना किया वामदेव आत्मा का साक्षात्कार किया वामदेव तो क्या अमृता समभव अमृत सम्यक अभवत समभवत मैंने साक्षात अमरता को प्राप्त कर गए आत्मभाव को प्राप्त करेंगे जिस आत्मा को उपासना करने से उपासना माने ऐक्य भाव में जाने से उपासना आत्मा की उपासना द्वैत भाव से ऐक्य भाव में ऐसा होगा और वयम उपासना है कहते हैं आगे कौन है ये आत्म तत्व जिज्ञास हम आत्म तत्व के जिज्ञासु लोग हैं आत्मा को जानना चाहते हैं कौन है आत्मा आत्मतत्व जिज्ञास हो वयम अभी हम भी वही आत्मतत्व को जानने की इच्छुक है हम लोग अयम आत्मा आई भी हम उपासना है यह आत्मा है करके जिसकी हम उपासना करते हैं प्रतिदिन हम प्रतिक्षण व्यवहार हम प्रतिदिन और प्रतिक्षण व्यवहार करते हैं अयम आत्मा अयम आत्मा ऐसा बोलते हैं ये व्यवहार करते हैं व्यवहार दो प्रकार का होता है एक क्रिया क्रियात्मक व्यवहार होता है एक शब्दात्मक व्यवहार अयम आत्मा करके हम शब्दात्मक व्यवहार करते हैं या आत्मा है ऐसा बोलते हैं दो प्रकार का व्यवहार होता है एक क्रियात्मक होता है घट को लाना ले जाना क्रियात्मक है और एक होता है शब्दात्मक शब्द भी एक व्यवहार है शब्दात्मक व्यवहार करते हैं कहा आत्म तत्व जिज्ञास हो भयम अपनी हम भी आत्म तत्व के जिज्ञासु हैं जिस आत्मा को जान करके वामदेव अमर हो गए ऐसे वो भी हम भी वैसे आत्मा के जिज्ञासु हैं आत्मा तत्व के जिज्ञासु हैं अयम आत्मा यम उपासमय है हम भी इस आत, जिस, इस आत्मा की हम उपासना जिस आत्मा की उपासना करते हैं प्रतिदिन प्रतिक्षण व्यवहार हम अयम आत्मा इस प्रकार से व्यवहार करते हैं प्रतिक्षण करते हैं सह कह वो कौन है वह आत्मा माने दो यहां दिखाई पड़ते हैं आत्मा आत्मरूप से कौन अहम प्रत्यय विषय रूप होगा अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्पूर्ण रूप होगा यही है अहम प्रत्यय का विषय संघात दिखाई पड़ेगा शरीर इंद्रिया संघात को आत्मशब्द से दिखाई पड़ता है अहम शब्द का विषय और आम वृत्ति में अभिव्यक्त स्पूर्ण होगा तो मुर्दा से विदारण करके प्रविष्ट हुआ आत्मा ये दो में से कौन आत्मा है विचार करना यदि तम पदार्थ शोधन प्रश्न ये कोयम आत्मा करके जो प्रश्न हो रहा है विचार चल रहा है ये तत्वशी में आया हुआ तम पद के अर्थ का शोधन के लिए तत्पद के लिए अलग होगा ये तुम पदार्थ शोधन चाहिए ये शोधन के लिए विचार चल रहा है तुम पदार्थ कौन होता है तुम पदार्थ तत्व तो मसीभाग महाभाग के माने वाला तुम पद का अर्थ क्या होता है क्या पैर के अंगूठ से प्रवेश करने वाला हो है आत्मा अथवा मूर्धा को विधारण करके प्रवेश होने वाला आत्मा है ये विचार अगर दो नंबर की टिप्पणी भी थी अयम आत्मा इत्यादि में अहम प्रत्यय विषयत्व प्रत्यक्ष अयम क्या अर्थ है यहां अहम प्रत्यय का विषय रूप से प्रत्यक्ष होने वाला है ये कहा तीन नंबर की टिप्पणी भी है आत्मा इति में आत्मा शब्द वाच्य करता आत्म शब्द का अर्थ क्या होता है दो दिखाई पड़ते हैं उनमें से क्या है विचार करने लगे कहा चार विषा आत्मा इत्यादि विचार बताया सीमान विदारिया इत्यत्र स्तुत स्वपाधिका नान्य किंचन विशद इत्यत्र स्तुतो निरुपाधिका इति अनयो सोपाधि निरुपाध्यो क स आत्मा यदि तत्पदार्थ होता प्रश्न ये जो कतरा स आत्मा में एक प्रश्न आया ये क्या है तत्पदार्थ के शोधन के लिए तत्व में आया हुआ तत्पदार्थ का शोधन के लिए कहा कैसा सीमानम विदार्य इत्यत्र श्रोता सोपाधिक होगा निरुपाधिक नहीं होगा तो सीमा को विदारण करके प्रवेश होने वाला निरुपाधिक नहीं होगा सोपाधिक बना हुआ है सोपाधिक और नान्य किंचन में सत आत्मा वही इधम अग्रे एक आशित नान्य के कुछ भी नहीं था ऐसा कहने से निरुपाधिक सिद्ध होता है ये कहा तो विदारी अर्थ जो सुना पड़ा है मुर्दा को विदारण करके प्रविष्ट होगा सुनने से सोपाधिक लगता है और नान्य किंचन विशद जो वाक्य देखते हैं प्रथम मंत्र में आत्मा भाई एकदम एक अग्रे आशित नान्य किंचन विशद कुछ भी नहीं था उसको छोड़कर ये कहने से क्या होगा इत्यत्र सुतो निरुपाधिक उस मंत्र में सुना होगा निरुपाधिक है और एतमेव सीमानम विदारियत यतया द्वारा प्राप्त देते सविशेष है ये दो में से कौन होता है तत्पर क्या निरुपाधि कहते सोपाधि निरुपाध्यो सोपाधि का निरुपाधि में कस आत्मा ये दो में से कौन आत्मा है क्योंकि तत्पदार्थ शोधना प्रश्न है तत्पदार्थ के शोधन के लिए प्रश्न है ये कहा ये बता आगे जब विचार चलता है तो फिर क्या करते हैं ये नवा पश्यति ये नवा सुनते आपस में विचार है आपस में निर्णय करना है मंथन करके अर्थ निकालना है तो कौन हो सकता है कहते हैं ये नवा तो जिसके द्वारा देखता है अथवा जो देखता है ये दो में से आत्मा कौन है ये विचार है जिसके द्वारा देखा मैंने प्राणात्म संघार और जो देखता है मैंने आत्मा जो तो कौन हो सकता है ये कहना चाहते हैं ये ना चक्षुरादि इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य ना इत्यर्थ चक्षुरादि के जो अभिव्यक्त चैतन्य के द्वारा जो देखता है वही आत्मा मुख्य आत्मा वही होगा एक कहना चाहते पश्यति कार्यक्रम अभिमानी लौकिक पुरुष है पश्यति का कर्ता कौन होगा लौकिक मनुष्य जिसके द्वारा देखता है कौन तो मनुष्य कार्य कार्यक्रम संघात में अभिमान करने वाला जो लौकिक मनुष्य है वो यहां पर पश्यति का कर्ता होगा जिसके द्वारा देखता है ऐसा अच्छा ठीक है पूर्वस्मिन अध्याय जन्मतर निरूपण है ना वैराग्यम निर्मितम ज्ञान प्रत्यर्थम कहते हैं पूर्व अध्याय में तीन जन्मों का निरूपण किया पितृ शरीर में प्रवेश होना रेतो रूप में वहां से निकलना मातृ शरीर में जाना प्रथम जन्म और मातृ शरीर से बाहर आना द्वितीय जन्म और वो शरीर नाश के बाद में प्राप्त होने वाला तृतीय जन्म कहा था वैराग्य के लिए कहने का नहीं कहा पूर्वस्मिन अध्याय जन्म त्रय निरूपण है न वैराग्यम निर्मितम वैराग्य का निरूपण किया पूर्वाध्याय द्वितीय अध्याय में किसके लिए ज्ञानोत्पत्त्यर्थम आत्मज्ञान के लिए सहायक बनाने के लिए आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान उत्पत्ति के लिए है वैराग्य का कथन न तो पदार्थ शोधनम बिना वैराग्य मात्र ज्ञान उत्पत्ति यदि कहते देखो केवल पदार्थ शोधन किए बिना तत्व और तुम पद का अर्थ का शोधन किए बिना महावाक्य है तत्व मसी तत्पद का जो वाच्यार्थ क्या होता है लक्ष्यार्थ क्या होता है तुम पद का अर्थ क्या है लक्ष्यार्थ क्या है इसका शोधन किए बिना न तो पदार्थ शोधन बिना वैराग्य मान केवल वैराग्य है किंतु तत्पद का तुम पद का अर्थ का शोधन नहीं कर पाया इतने मात्र से ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान उत्पत्ति था वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता वाक्यार्थ ज्ञान के तत्पद सौपद अर्थ का शोधन करना पड़ेगा तभी नहीं तो अर्थ ज्ञान उत्पत्ति ना होता दस नंबर में कहा ज्ञान उत्पत्ति मैंने अर्थ ज्ञान के आदि में लगा देना वाक्य अर्थ ज्ञान उत्पत्ति न तत्पथ पद पदार्थ शोधन के बिना वैराग्य मात्र से अर्थ ज्ञान नहीं होगा तत्व में से जन्य जो अर्थ ज्ञान होना वो हो नहीं पाएगा इति पदार्थ शोधन हम वाक्यार्थ कथन इसलिए पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ कथन करना चाहते हैं तत्वसी का ही अर्थ बताना है किंतु पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ बताई तुम ष्टोध्याय ये ष्ठ अध्याय है आरण्य क्रम से उपनिषद क्रम से तृतीय अध्याय ऐतरिक आरण्य क्रम से ष्ठ अध्याय है किंतु उपनिषद क्रम से तृतीय अध्याय है ष्ठ अध्याय प्रत्यय पदार्थ शोधने अधिकारी दर्शन वाक्य बाध्य होता है पदार्थ शोधन में अधिकारी को दिखाते हुए वाक्य अवतरण देते जाते देखो तुम पद का कभी कभी वाच्यार्थ शरीर होता है तुम आओ तुम जाओ तुम खाओ तुम बैठो जब बोलते हैं तुम अत्र आगत तो कौन बनेगा तुम पद का शरीर ये होगा ठीक है वो व्यक्ति चले गए स्वर्ग गए बोलते हैं स्वर्ग जाने वाला कौन होगा जीव तो हम पद का वाच्य अर्थ जीव भी होता है स्वर्ग जाने की बातें आएगी तो तुम पद माने शरीर तो गया नहीं है आत्मा का लगा जीव गया वो जीव को तुम पद का अर्थ वाच्यार्थ होगा वाच्यार्थ कभी शरीर होता है हाँ, माने लौकिक कार्यों में और शास्त्रीय कार्य जब आएगा उस स्थिति में जीव होता है और लक्ष्यार्थ में जाएंगे तो शुद्ध चेतन होगा तोम बना हुआ है किसके कारण से वो अंतकरण के कारण से अंतकरण को आप उपाधि को हटाएंगे भावत्यार लक्षण जिसको बोलते हैं तो शुद्ध चेतन आ जाएगा तोम बर्बाद लक्ष्यार्थ इसी प्रकार तत्पद का भी अर्थ होता है सब क्षति आदि जो बोलते हैं उस काल में शरीर होता है और शास्त्रीय रंग से सह करके देखने को तो ईश्वर होता है माया विशिष्ट होता है लक्ष्यार्थ और लक्ष्यार्थ में जाने पर माया को हटा करके देखते हैं तो शुद्ध चेतन होता है भावविद्या लक्षण को शुरू करते हैं ऐसा पदार्थ शोधन करना जरूरी है कहा इसलिए पदार्थ शोधन अधिकारी पदार्थ शोधन में अधिकारी कौन अधिकारी कहां प्रयोग करता है तत्पद का तोम पद का सामान्य लोक व्यवहार में तोम पद तत्पद आएगा तो एक शरीर को ही व्यवहार करता है अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं कहां पर प्रयोग करते हैं शास्त्रीय ढंग से जब चलते हैं कर्मकांड के हिसाब से तत्पद तोम पद आएगा तो स्वर्ग जाने वाला जीवादि होगा ईश्वर आदि होगा और वेदांत के माध्यम से विचार करने वाला वैराग्यवान होंगे तो लक्ष्यार्थ में पहुंचेंगे शुद्ध चेतन में पहुंचेंगे ऐसी स्थिति आएगी ये कहना चाहते हैं इसलिए पदार्थ शोधन में जो अधिकारी हैं ब्रह्मवेत्ता लोग यहां विचार कर रहे हैं ये सोमपल पदार्थ शरीर को मानने वाले नहीं है वो स्वर्ग आदि जाने वाला जीव को मानने वाले भी नहीं है ब्रह्मवेत्ता लोग हैं जिज्ञासु लोग हैं इसलिए कहते हैं पदार्थ शोधने अधिकारिणम दर्शन पदार्थ शोधन अधिकारी हैं दिखाते अधिकारियों को दिखाते हुए वाक्यम अवतार है मंत्र का जो वाक्य है उसको दिखाते हैं कहा भाष्य में कहते हैं ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फलावाप्ति वामदेवादि आचार्य परंपरया स्मृत्या अवदत्यमान ब्रह्मविद परिषदी अत्यंत प्रसिद्धाम उपलब्धमान मुमुक्षो ब्राह्मण अधुनातना ब्रह्म जिज्ञास हो अनित्यात साध्य साधन लक्षणात् संसारात आजीव भावात व्यावृत सव विचारयन तो अन्यम पृछन्ति कोयम आत्मा इति कथम अयम आत्मान अयम आत्मा इति साक्षात वयम उपासमहे कस आत्मा ब्रह्म विद्या साधन कृत ब्रह्म विद्या साधन के सामर्थ्य से आत्मज्ञान रूपी साधन है जिसके पास ऐसे सामर्थ्य से सर्वात्म भाव फल अभाव सर्वात्म भाव की फल बताया सर्वात्म भाव को हो जाना जैसे वामदेव जी हो गए आत्मविद्या रूपी जो साधन है जिसके पास किसके साधन है वो सर्वात्म भाव की साधन है वही फल है वो आत्मज्ञान का कारण है सर्वात्म भाव को हो जाना सर्वरूप ऐसी मान्यता आ जाना ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फलभाव तिम ब्रह्म विद्या रूपी साधन के द्वारा प्राप्त जो सामर्थ्य से प्राप्त क्या है सर्वात्म भाव रूपी फल की अभाप्ति माने प्राप्ति कैसे पता लगा वामदेवादी आचार्य परंपरा श्रुतिया श्रुति के द्वारा पता लगा वामदेवादी आचार्यों ने ऐसे प्राप्त किया है ब्रह्म विद्या रूपी साधन उनके जीवन में आया आने साधन आ गया आने पर सर्वात्म भाव में पहुंच गया श्रुतिया अवदत्य माना अवदेती तो प्रकाशित होने वाले जो है कौन है वो अभाव फलाभ सर्वात्म भाव फलाभाव से फल के प्राप्त अवदत्य माना ब्रह्मविद परिषदी अत्यंत प्रसिद्धां ये जो आत्मज्ञान रूपी साधन के द्वारा सर्वात्मभाव रूपी फल की प्राप्ति कहाँ प्रसिद्ध है ब्रह्मव्यताओं के परिषद में सभा में अत्यंत प्रसिद्ध है ब्रह्मव्यताओं की सभा में यही बोलते हैं आत्मज्ञान यदि है तो सर्वात्मभाव अवश्य हो तो फल मिलेगा ऐसे वहां प्रसिद्ध है ब्रह्मवेत्ताओं की सभा में ब्रह्मवेद परिषद ही ब्रह्मवेत्ताओं की जो सभा है उसमें अत्यंत प्रसिद्धाम हाँ, सर्वात्म भाव फलाभाव्यम पूर्व में है सर्वात्मा फल की प्राप्ति अत्यंत प्रसिद्ध है उपलब्धमाना ऐसे प्राप्त करने की इच्छुक है जो लोग तीन नंबर की टिप्पणी पर उपलब्धमान है जानाना है जान ऐसे जानने वाले ऐसे जानने वो जानते हो वो लोग पता है शास्त्र पड़े हुए हैं किसी लोग उपलब्धाना जान, जानाना जानने वाले वो ब्राह्मण जो मुमुक्ष लोग हैं भावी वृत्ति से हम ब्राह्मण बोल दिया गया आगे ब्रह्म होंगे इसलिए ब्राह्मण बोल दिया है विरक्त लोग हैं अधुनातना वर्तमान वाले भी वामदेव आदि लोग सर्वात्म भाव को प्राप्त कर गए आत्मज्ञान के साधन से किंतु अधुना आज के भी आज के भी यदि वैराग्य जीवन में है तो क्या अधुना तना अधुनातना माने इदानीम उत्पन्न वैराग्य वामदेव जी के समय में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ था इनका इस काल में उत्पन्न वैराग्य वाले इस समय में वैराग्य है जिसको जीवन में अधुनातना ब्रह्म जिज्ञासव ब्रह्म की इच्छुकता है ज्ञातु इच्छु जिज्ञासु जानने की इच्छुक ब्रह्म को जानने की इच्छुक ब्रह्म मैंने सर्वात्म भाव है सर्वरूप इसको जानने की इच्छुक तो क्या होता है अनित्यात साध्य साधना साध्य साधन लक्षणात् संसारात आजीव भावात व्यावृत्त स्वभाव इससे व्यावृत्त होना चाहते हैं अलग होना चाहते हैं किससे जो अनित्य है साध्य साधन दो दो भाग में विभक्त है संसार ये साधन है तो ये साध्य है दो भाग में विभक्त जो संसार है अनित्य है साध्य साधन लक्षण है जिसमें साधन साध्य और साधन दो विभक्त संसार संसारात आजीव भावात जीव भाव से ऐसी संसार से जीव भाव से ऊपर उठना चाहते हैं जीवत्व से ऊपर उठना चाहते हैं आजीव भावा व्यावृत्त भाव उनसे व्यावृत्ति होने की इच्छुक है ऐसे विचार अंत ऐसे एक दूसरे में विचार करने लगे स्वयं आत्मा यदि वयम उपासना या आत्मा कौन है ऐसे विचार करना अन्य पृछंती एक दूसरे को पूछते हैं भाई वो आत्मा कौन है जिस आत्मा को जान करके बामदेव अमृत हो गए अमर हो गए सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गए वो आत्मा कौन है ऐसे विचार करने लगे कोयम आत्मा इति ऐसा पांच की टिप्पणी में कहा कोयम आत्मा इति अयम प्रतीका कथम इति अनंतरम पठनीय क्या आगे कथम आएगा उसके आगे ये कोयम आत्मा आना चाहिए प्रतीक है ये कथम पंक्ति के आगे पढ़ना चाहिए टिप्पणी का क्यों अथवा अधिको वायम अथवा अधिक लिख दिया ये भाष्य में कोयम आत्मा यहाँ आवश्यकता नहीं है यहाँ कथम होना चाहिए अन्योन्यम पृछंती कथम ऐसा पंक्ति होनी चाहिए अन्योन्यम पृछंती के आगे कथम होना चाहिए टिप्पणी का आता है तो कथम अयम आत्मानम अयम आत्मा यदि साक्षात भयम उपासना है कथम यम आत्मा जिस आत्मा को किस प्रकार जिस आत्मा को हम अयम आत्मा यदि साक्षात उपासना है माने साक्षात हम उपासना कर सकें माने उपासना के लिए प्रवृत्त है वह आत्मा कौन है ऐसा छह नंबर की टिप्पणी कथम कथम यदि अनंतरम विचारायण चक्र कथम यदि क्या आगे विचारायण चक्र का विचार करने लग गए ये अर्थ निकालना चाहते हैं टिप्पणी का और कहते हैं भाष्य में यम च आत्मान अयम आत्मा इति साक्षात उपासन वामदेव अमृता समवर जिस आत्मा को यही आत्मा है करके निश्चय किया जिन्होंने यही आत्मा है अयम आत्मा करके निश्चय किया जैसे हाथ में रखा हुआ आमला में कोई संशय आदि नहीं होता संशय भी नहीं होगा विपर्य भी नहीं होगा सर्भाव असंभावना आदि कुछ नहीं होगी आमला है निश्चित होता है इसी प्रकार यह आत्मा है जिन्होंने निष्कर्ष प्राप्त कर लिया यम च आत्मान अयम आत्मा की साक्षात उपासना साक्षात माने उपासना प्राप्त करने वाला कामदेव अमृता समभव अमृता सम्यक अभव समभव माने अमर हो गए रामदेव जिस आत्मा देव ऐक्य प्राप्त करने से रामदेव अमर हो गए तम एवं वयम अपनी उपास में उसी आत्मा को हम भी चिंतन करना चाहते हैं जैसे आत्मचिंतन से वामदेव अमर हो गए उसी आत्मा को हम भी चिंतन करना चाहते हैं कौन खलुषा आत्मा वह आत्मा कौन हो सकता है ये शरीर ऐसा ब्रह्मवेत्ताओं के सभा में ऐसे विचार चला एक एवं जिज्ञासा पूर्वम अन्योन्यम पृछता इस प्रकार जिज्ञासा पूर्वक एक दूसरे को पूछने वाले जो ऋषि जब थे ब्रह्मदत्ता लोग थे एक दूसरे को पूछ रहे कौन हो सकता हुआ एवं जिज्ञासा पूर्वम अन्योन्यम पृछताम एक दूसरे को पूछने वाले जो ब्रह्मदत्ता लोग था अतिक्रांत विशेष विषय स्मृति संस्कार जनता स्मृति राजा आएगा पूर्व को विषय करने वाली पूर्व में कहा जो विशेष विषय तो आत्मा की चर्चा आई थी पहले इसी ऐतरिक काल में हाँ, अतिक्रांत वाले पूर्वोक्त पूर्व में कहा गया जो विशेष है विशेष विषय विशेष को विषय करने वाले श्रुति के द्वारा संस्कार श्रुति के द्वारा सुना उसके बाद संस्कार से जनित जो स्मृति रह जाएगा श्रुति से सुना हुआ जो आत्मा है पूर्व स्मृति से सुने हुए तो उस सुना हुआ था तो उसका संस्कार बना उसके द्वारा आज स्मृति पैदा हो गई उनके मन में अपने आप अंतकर्म स्पूरित हो गया स्मरण आ गया अरे दो आत्मा यहां प्रविष्ट है पहले स्मृति में ऐसा कहा है ऐसा उनको ख्याल आ जाएगा तम प्रपदाभ्याम प्राप्त ब्रह्म इमं पुरुषम ऐसा एक एक तो ये आत्मा है प्रपदाभ्याम प्राप्त ब्रह्म इदम तम इदम पुरुषम हम इस पुरुष को प्राप्त होगा माने शरीर को प्राप्त हुआ है वहां से पैर के अंगूठे से अग्रभाग से प्रविष्ट हुआ यह आत्मा है तैतरे आग में प्रथम अध्याय दिया ये प्राणात्मा है ये और स एतम एवं सीमान विदार्य एतया द्वारा प्राप्त होता मुख्य आत्मा है ये वो आत्मा जिसने लोक की सृष्टि की थी उसने कहा मेरे बिना इनका कैसे चलेगा इसलिए मेरे भी प्रवेश होना चाहिए करके इसी सीमा को विदारण करके प्रविष्ट होगा स वो परमात्मा ने क्या किया इसी सीमा को विदारण करके यथया द्वारा प्राप्त हो इसी द्वारा भित्र आया प्राप्त हुआ था और एतम एवं पुरुषम द्वे ब्रह्मणी इतर इतर प्रातिकूल्य प्रतिपन्ने एतम एवं पुरुषम इसी शरीर में तो पुरुष मान शरीर यहां इसी शरीर में द्वे ब्रह्मणी दो ब्रह्म बैठे हुए हैं दो ब्रह्म है यहां कौन है इतर इतर प्रातिकूल्य न एक, एक दूसरे के प्रतिकूल रूप से बैठे हुए दो दो आत्मा है इसी शरीर में कहते हैं एतम एक पुरुष इसी शरीर इसी शरीर के भीतर द्वे ब्रह्मणी दो ब्रह्म है यहां एक पर ब्रह्म है एक अपर ब्रह्म है दो ब्रह्म बैठे हैं यहां एक प्राणात्मक है एक आत्मरूप है एकम एक पुरुषम इसी शरीर में ही द्वे ब्रह्मणी दो ब्रह्म इतर इतर प्रातिकूल इतर इतर प्रतिकूल है ऐसा प्रतिकूल रूप से प्रतिबंध प्राप्त है ऐसा कहा तेज अश्य पिंड से आत्मा होती ये दोनों आत्मा यदि ये दोनों न हो तो ये पिंड काम चलेगा ही नहीं इसका स्वरूप है ये दोनों यदि प्राण भी न हो आत्मा भी न हो तो पिंड तो कोई काम आएगा ही नहीं सड़ने लग जाएगा तेज वो दोनों आत्मा ऐसे हैं अश्य पिंड से आत्मभूत ये शरीर रूपी पिंड का स्वरूप है जिसके बिना इसका काम नहीं चलेगा इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा ऐसे दो आत्मा है किंतु प्रतिकूल रूप में है एक दूसरे ऐसे दो आत्मा है इसमें यह विचार आया उनके मन में तय और अन्य तरह आत्मा उपास्य भवित उनमें से दो में से कोई एक आत्मा उपास्य होगा चिंतन के विषय होगा जिसको जिस चिंतन से वामदेव अमृत हो गए थे अमर हो गए थे वो आत्मा दो में से कोई एक है या तो पैर के अग्रभाव से प्रविष्ट हुआ इंद्रिय समुदाय रूप प्राण प्राण रूप है सविशेष आत्मा इस समष्टि में हिरण्य गर्भ बोलते हैं वो है या फिर मुर्दा से मुर्दा को विदारण करके प्रविष्ट हुआ आत्मा दो में से उपास्य होगा बल्कि चिंतनीय होगा जिसके चिंतन से वामदेव अमर हो गए थे यो अत्र उपास्य कस आत्मा इसमें जो उपास्य आत्मा कौन है वो दो आत्मा दिखाई पड़ रहे हैं पूर्व श्रुति को देखने पर पूर्व की दो स्मृतियां दो स्मृतियां देखा तम प्रपदाभ्याम प्राप्त ब्रह्म एवं पुरुषम एक है और एक सा एकम सिमान यथया द्वारा प्राप्त दूसरी स्मृति है ये दूसरी स्मृति दो स्मृति के माध्यम से दो में से एक कोई आत्मा उपास्य होगा तो यो अत्र उपास्य कौन आत्मा इसमें उपास्य कौन आत्मा है इति विशेष निर्धारणार्थम अन्योन्यम प्रवृत्सु विचार कहा इसे विशेष निर्धारण के लिए एक दूसरे से पूछने लगे पूछा एक दूसरे को पूछा मैंने विचार करने लगे कौन आत्मा होता है ऐसा विचार करने लगे ये कहा ठीक है चलेगा वामदेवादि में आदि शब्द है भाष्य में जिस आत्मा को ज्ञान से वामदेवादी आचार्य परंपरा श्रुति के द्वारा सुना है कि आत्मा को जानने से सर्वात्म भाव की फल रूपी प्राप्त होना सर्वात्म भाव की प्राप्ति आत्म ज्ञान का एक फल है सुना है तो वामदेवादि में आदि लगा तो आदि से क्या लेना चाहते हैं आदि से आदि शब्द लेना तदियो देवाराम प्रत्यबुद्धता सएव तद अभवत वृद्धानुगुण है उस आत्मा को जिन जिन देवताओं ने जाना वही वही देवता वही आत्मा बन गया बाकी देवता नहीं बन पाए तथा राम तथा राम उसी प्रकार जिन ऋषियों ने आत्मा को पहचाना आत्म रूप में हो गए जिन मनुष्यों ने पहचाना वो मनुष्य भी आत्म रूप में हो गए ऐसा आया है यो देवान तद माने आत्मा उस आत्मा को देवान प्रत्यबुद्धता जिन देवताओं ने जाना सैव तद अभव वही आत्मा रूप में हो गया इत्यादि ना उक्ता देवादय गृहते देवादि से आदि शब्द से ये देवादि को लेना कहा अधुना कहा ठीक है पूर्वोक्त रीत्या वैराग्य उत्पत्ति अनंतरम इत्यर्थ ये अधुना का अर्थ पूर्व पूर्व पूर्व अध्याय में कहे गए तरीका से वैराग्य उत्पत्ति का अनंतर आज भी अधुनातना ब्रह्म जिज्ञासु हो सकते हैं यदि वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो किस ढंग से पूर्व अध्याय में कथित रूप से जिस ढंग से पूर्वाध्याय में चर्चा हुई उस रूप से वैराग्य भी आ जाए तो आज के भी ब्रह्म जिज्ञासु हो सकते पूर्वोक्त रीत्या वैराग्य उत्पत्ति अनंतर मित्र पूर्वोक्त तरीके से पूर्वाध्याय में कथन जैसे कथन था उसके माध्यम से वैराग्य उत्पत्ति के अनंतर अभिमाकार था आज्ञा था ब्रह्म जिज्ञासा आज भी ब्रह्म जिज्ञासु हो सकते हैं वैराग्य आ जाए तो जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक जिज्ञासा होना संभव नहीं तो ब्रह्म जिज्ञास जिज्ञास अनित्यात साध्य साधन लक्षणात् संसारात आजीव भावात व्यावृत लगा यदि वैराग्य जीवन में आएगा तो ये होगा अनित्य जो साध्य साधन रूप संसार और जीव भाव जो है इससे व्यावृत होना चाहते हैं जीवत्व तो समाप्त करना चाहते हैं वैराग्य आ जाए तो और वैराग्य जीवन में नहीं तो जीवत्व तो बनाए रखना चाहते हैं या कर्म करें स्वर्ग में जाके फल हो गए इत्यादि इच्छा होगी तो आजीव आत्मा नहीं आगे बोलते हैं कैसा है आजीव भाव जीव तक संसार है कैसा संसार से हेतुभूता अविद्या संसार के कारण स्वरूप अविद्या ज्ञान है आत्मा का ज्ञान अविद्या संसार से हेतुभूता संसार के जो हेतु स्वरूप है कौन अविद्या अविद्या है तत्कार्यशु अविद्या और उसके कार्य जो है ये संसार शरीर आदि आत्मभाव सहिता हाँ, अविद्या और अविद्या के कार्य में जो आत्मभाव हो रखा है अहम मनुष्य करके बोल रहा है आत्मभाव हो रखा है सहितार्थ व्यावृत्ति तुम व्यावृत्ति होने के लिए व्यावृत्ति पृथक होने के लिए संसारम परितृप्तम इच्छा मान संसार को परित्याग करने की इच्छा है तुम ऐसा व्यावृत्त होना मानी यह है विचार प्रकार में वाक्यान्वय न पश्चिम कर तुम पृथक जो विचार चल रहा है ब्रह्मवेत्ताओं का उसके विचार के प्रकार ही वाक्य के संबंध अधिकार के स्पष्टीकरण करने के लिए पूछते हैं कथम इत्यादि का कथम तो प्रश्न आया तो कहा यम आत्मान अयम आत्मा इति साक्षात वयम उपासना है स कहा आत्मा ये था जिस आत्मा के हम चिंतन करते हैं आत्मा आत्मा करके बैठे हैं वो आत्मा क्या है अभी तो अंधेरे में हमारा चल रहा है आत्मा आत्मा कर रहा है आत्मा क्या पता ही नहीं चिंतन करो बोलते हैं आत्मा क्या है आत्मा पता ही तो आत्मा कौन है विचार कर ठीक है कहते हैं ननु अयम आत्मा यदि विशेषत्व निश्चय है अयम आत्मा जब हो गया विशेष तो यह आत्मा है फिर कह प्रश्न नहीं होना चाहिए कोयम आत्मा कैसे होगा जब अयम इदम शब्द से निश्चय हो गया इदम होता इदम अस्त संधिकृष्ट नजदीक के लिए होता है अपरोक्ष के लिए होता है अयम बोला तो अपरोक्ष हो चुका है अयम आत्मा फिर कह क्यों लगाया ये प्रश्न है नो अयम आत्मा यदि विशेषतो निश्चय अयम आत्मा इस विशेष रूप से निश्चय हो जाने पर स का यदि प्रश्न अनुपति वो कौन है ये प्रश्न बन नहीं सकता ये आत्मा है निश्चय हो गया विशेष रूप से फिर वो कौन है ऐसे प्रश्न नहीं होता तद विचारण व न किंचित प्रयोजनम ऐसे आत्मा जो निश्चय हो चुका है विशेष रूप से ऐसे आत्मा का विचार करने से कोई प्रयोजन भी नहीं होगा प्रयोजन तो उसी में सिद्ध होना है संदिग्ध हो उसका विचार से प्रयोजन होगा सिद्ध होगा ये तो असंदिग्ध अयम करके ज्ञान हो गया है उसके विचार से कोई प्रयोजन सिद्ध भी नहीं होता ये शंका आ गई नो अयम आत्मा यदि विशेष तो निश्चय है ऐसा निश्चय हो जाने पर विशेष रूप से सह का यदि प्रश्न अनुमति मतलब ये तो प्रश्न नहीं हो सकता वो आत्मा कौन है और दूसरी बात तद विचार में उस आत्मा के विचार से निश्चय निश्चित हुआ जो आत्मा है उसके विचार से वाक्यम तो न किंचित प्रयोजन कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ये शंका आ गई तब आत्मा ने विशेष आत्मा में विशेषण लगाते हैं कैसे आत्मा है वो कहते हैं यम इत्यादि का यम च आत्मान अयम आत्मा इति साक्षात उपासन देवा अमृता समभव जिस आत्मा को जिस आत्मा को अयम आत्मा ऐसा साक्षात एकत्व तो प्राप्त किया जो वामदेव जी अमर हो गए थे वह आत्मा कौन ये विचार है भयम अभी उपासना कौन उत्तम सा आत्मा वो आत्मा कौन है हमने उपासना करना है उसको ठीक कहा ठीक हम कहते हैं उपासना का अर्थ यहां लगता है हम उपासना करते हैं ऐसा अर्थ आ रहा है किंतु उपासना है माने उपासितुम प्रवृत्ता उपासना के लिए तैयार है जिस आत्मा की तो उपासना होता तो प्रत्यक्ष हो चुका है फिर वहां शंका नहीं आती कौन है कथम कथम एक कहा उपासमय का अर्थ समझना उपासितुम प्रवृत्ता हम उपासना के लिए तैयार हो गए हैं जिस आत्मा की वो आत्मा कौन है जिस आत्मा के चिंतन से बामदेव हम अमर हो गए वह आत्मा कौन है वामदेवो यम आत्मान उपास्य अमृतो अभवत वामदेव ऋषि जिस आत्मा के उपासना करके माने चिंतन करके हाँ, अमृतो अभवत अमर हो गए वयम अभी तम आत्मान उपासित प्रवृत्ता हम लोग भी उस आत्मा के चिंतन के लिए प्रवृत्त हैं तैयार हैं सह का वो आत्मा कौन है यदि प्रश्नार्थ है प्रश्न के लिए है कौन तीन शब्द प्रश्न के लिए है ये कहा सात की टिप्पणी में कहा सामदेव रामदेव ये तेना विशेष तो निश्चय भाव सामान्य आत्मरूप से श्रुति के माध्यम से सुना हुआ है सामान्य ज्ञान है हाँ, अहम अहम मनुष्य विशिष्ट होकर के अहम अहम हो रहा है किंतु तो विशेष रूप से ज्ञान नहीं है इसलिए साधारण सामान्य ज्ञान हो विशेष ज्ञान हो वहीं पर विशेष जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा होती है बिल्कुल अज्ञात वस्तु के भी जानने की इच्छा नहीं होती है बिल्कुल ज्ञात वस्तु की भी जानने की इच्छा नहीं होती है सामान्य ज्ञात हो विशेष अज्ञात हो उसकी जानने की इच्छा होती है सामान्य ज्ञात है अहम मनुष्य इस रूप से ज्ञात है किंतु विशेष रूप से ज्ञात नहीं मनुष्य तो हटा करके ज्ञात नहीं है अहम मनुष्य में अहम अहम लगाता सामान्य दृष्टि आप है इसलिए कहा एक सात नंबर भी कहा है एते न विशेषत्व निश्चय अभाव विशेष रूप से निश्चय है सामान्य ज्ञान है शरीर आदि विशिष्ट रूप से अहम अहम चल रहा है किंतु केवल अहम तो नहीं है विशेषत्व निश्चय अभाव न प्रश्न अनुपत्ति सूचित आगे अमृत भाग अमृत भाव उक्त्याच प्रयोजन प्रयोजन भी है आत्मा को जानने से अमर हो जाता है प्रयोजन है आत्मा को जानने का पूर्वाजन कहा था प्रयोजन भी नहीं कहा था प्रयोजन भी है ये कहा एतेन वयस उपा एतेन उपासमहे उपासित प्रवृत्ता इससे कि सिद्ध होगा कि हम उपासना नहीं किया हमने उपासना भी हम तैयार है अर्थ आएगा उपासमहे इत्यस्य उपासित प्रवृत्ता हम उपासना के तैयार हुए ऐसा अर्थ करना व्याख्या अमृत समभवत इति अंत वचन है ना अमृत समभवत फल बताया हुआ है फल बताया अमर हो गए वामदेव जी ऐसा फल बताया हम भी उसकी चिंतन करना चाहते हैं अमर होना चाहते हैं प्रश्न जो रहा कहा आगे टीका में कहते हैं उपासनम नाम उपासना क्या चीज है जब देवताओं की उपासना आएगा तो द्वैत रूप से उपासना होगी वहां अपने से भिन्न जो इष्ट होगा माने अपने इष्ट के समीप में उपमान समीप आसन रखना अपने इष्ट के समीप आसन करना बैठना माने इष्ट छोड़ करके अन्य चिंतन ना आ जाए इष्टाकार वृत्ति में रहना उपासना है किंतु आत्मा उपासना कैसे है द्वैत रूप से नहीं होता इसलिए बोलते हैं यहां उपासनम नाम उपमान सामिप्य सामीप्य नाम उप शब्द का अर्थ सामिप्य ऐक्य न आत्मा की उपासना में ऐक्य भाव से रहना है द्वैत भाव से नहीं अन्य देवताओं की उपासना में द्वैत भाव होगा किंतु तो आत्मा की उपासना में क्या होगा उपकर्थ सामिप्य ना ऐक्य न ऐक्य रूप से में निरूपण सामिप्यत्व क्यों आत्मा ही अतिशय सामिप्य आत्मा ही होता है निरुपचरित सामिप्य आत्मा ही होता है आत्मा नहीं ये सामिप्य आता अत्यंत सामिप्य है इसलिए ऐक्य न यहां पर उपकर्थ ऐक्य रूप से और अपरोक्षीकृत्य आसनम अपरोक्ष करके आसन रखना माने ऐक्य करके बैठ जाना अपरोक्ष करके बैठ जाना अहम ब्रह्माष्टमी इस बात में रखना यही यहां उपासना रखना उपासना तो देवादी की उपासना जैसा नहीं उपासना नाम उपमाने सामिप्य ना ऐक्य ना यहां सामिप्य ऐक्य रूप से आत्मा के साथ सामिप्य होना स्वयं है वो इसलिए ऐक्य ना ऐक्य रूप से तस्वीर निरुक्त सामिप्य क्यों आत्मा ही अत्यंत सामिप्य वही होता है वो तो ऐक्य जो होता है वही अत्यंत सामूहिक होता है इसलिए अपरोक्षी कृत्य उसी को अपरोक्ष करके आत्मान आसनम रहना तद रूपेण अवस्थान आत्म आत्मरूप से रहना शरीर रूप से नहीं आत्मरूप से रहना यही है तत्पुच्य इसी को उपासना कहा जाता है आत्मोपासना कहा जाता है यदवा अथवा देखो आत्मा सामान्य ज्ञात है अहम सुखी इत्यादि व्यवहारेशु तमेव वयम उपासम है तमेव आत्मत्व स्वीकृत स्थित कहते अहम सुखी में अहम का ज्ञान होता है मैं सुखी हूं बोलता है तो अहम भी ऐसा साथ मैं सुख वाला हूं ऐसा बोलता है मैं धनी हूं कहता है तो अहम का भी ज्ञान होता है वहां किंतु केवल अहम का ज्ञान नहीं सुख विशिष्ट होकर के अहम का ज्ञान हो रहा है अहम सुखी इत्यादि व्यवहार से जो व्यवहार करता है शब्द व्यवहार अहम सुखी ऐसा व्यवहार करता है व्यवहार दो प्रकार का शब्दात्मक और क्रियात्मक या हम सुखी जो बोलता है शब्दात्मक व्यवहार है हम सुखी इत्यादि इत्यादि व्यवहार है तमेव अभी उपासमहे उसी आत्मा के ही माने अहम सुखी इत्यादि व्यवहार में उसी आत्मा की हम उपासना करते हैं ये तो शुद्ध आत्मा नहीं हो पा रहा है तमेव आत्मत्व ने स्वीकृत थे वो हम सुखी में जितना भास रहा है सुख विशिष्ट होकर के भाषा उसी को हम आत्मा से प्राप्त करके बैठे हुए हैं हमें आत्मत्व न स्वीकृत उसी को ही आत्मा रूप से स्वीकार करके हम बैठे हुए माने केवल आत्मा नहीं है सुख विशिष्ट आत्मा को आत्मा मान के बैठे हैं कहा नौवी टिप्पण कहा तमेव मैंने अहम प्रत्यय विषय अहम प्रत्यय विषय है अहम सुखी में भी है अहम अहम ज्ञान का विषय है किंतु अनात्मरो अहम इति प्रतीति है अनात्मा में ऐसा ज्ञान नहीं होता अहम ऐसा नहीं होता अनात्म पदार्थ में इरम होता है आम नहीं होता इदम होता है अनात्मा में इदम होता है यह ऐसा बोलते हैं मैं नहीं बोलते हैं अनात्मनो अहम इति प्रती प्रतीति अनुपत्य कहा अनात्मा में अहम मैं ऐसा प्रतीति नहीं होती है स आत्मात्मा इति है तो जो अहम सुखी करके सुख विशिष्ट होकर के आए प्राप्त आत्मा कौन है न तो अयम आत्मा निश्चय विचार आयोग है अयम आत्मा निश्चय होने पर विचार नहीं कर सकता है बात में फिर भी कर सकता है सामान्य ज्ञान हो तो विशेष ज्ञान के लिए विचार कर सकता है एक एक नंबर टिप्पणी का यदवा इत्यादि ना उक्त व्याख्यान पर पक्षे की पूर्वोक्त आशंका में विभाग में रहते तो यदवा करके दूसरी व्याख्या की तिथि का मैं अहम सुखी इत्यादि विभाग में आत्म प्रत्यक्ष होता है बोला था उसमें भी पहले जैसे ही जब अयम आत्मा ज्ञान हो गया अहम सुखी के द्वारा ज्ञान हो गया फिर यह विचार की आवश्यकता क्या है निश्चय हो गया है ऐसा वही प्रश्न उठता है वही शंका करके खंडन करते हैं न च अयम आत्मा इत्यादि कहा न तो अयम आत्मा इति निश्चय विचार आय होगा अयम आत्मा निश्चय होने पर विचार नहीं हो सकता ये बात नहीं विचार होगा हो सकता है कैसे कहते हैं तस्व कार्यक्रम संकीर्ण विचार सकते आत्मा का ज्ञान तो था अयम आत्मा करके किंतु कार्यक्रम में संकीर्ण रूप से था मिला हुआ में आम आत्मा हो रहा था केवल आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं थी शरीर इंद्रिय समुदाय पूरा मिलाकर के अहम मनुष्य इत्यादि रूप में आत्मज्ञान था केवल आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है एक तस्व उसी आत्मा का तस्व उसी आत्मा का कार्य करना संकीर्ण है ना कार्य करने के साथ में होता हम तो होता था शरीर के साथ अहम होता था शरीर इंद्रिय के साथ अहम होता था कार्य करना संकीर्ण है ना विचार होकर केवल आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ इसलिए विचार हो सकता है केवल दूसरे के साथ लगा करके विशेषण लगा करके आत्मज्ञान तो था अकेला आत्मा का ज्ञान नहीं था इसलिए विचार हो सकता है एक <clears throat> तस्से मैंने दो तथा निश्चय विषय संकीर्ण या जो अहम करके जो निश्चय हुआ है पहले संकीर्ण विषय शरीर आदि को लेकर के केवल आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है हम गच्छामी आदि बोलता है शरीर को लेकर बोलता है हम पश्यामी आदि बोलता है तो चक्षु को लेकर इंद्रियों को लेकर बोलता है शुद्ध आत्मा का नहीं था इसलिए तद विवेक आय का विचार है इसके उस आत्मा का विशेष रूप से विचार के लिए विवेक के लिए विचार करना आवश्यक है ये कहा आगे शंका है टीका में ननु भूतानाम व्याकरणार्थम यह प्रविष्ट सएव आत्मा की निर्धारण संभवात विचार अनुपत्ति की आशंका एवं अभी द्वयो प्रविष्टत्व समरमाणत्वात् न निर्धारण वक्तुम द्वयो प्रविष्टत्व स्मृतम इत्याह कहते पूर्वादि बोले महाराज भूतों को स्थूलीभूत करने के लिए अनेक जीवे आत्मा हम प्रविष्ट नाम रूपे व्याकरवाणी छांदोगिन है तो परमात्मा ने यह सोच करके प्रवेश किया है जीव रूप से प्रवेश करके एक नाम रूप लगाऊं इसमें शरीर आदि का नाम रूप लगाऊं ऐसा करके प्रविष्ट होगा तो भूतों को व्याकरण करने के लिए मैं नाम रूप देने के लिए मैं ये नाम रूप नहीं था अब नाम रूप देना है नाम रूप देने के लिए यह प्रविष्ट जो प्रविष्ट हुआ है इस शरीर में मैंने जीव रूप से प्रविष्ट हुआ है सैव आत्मा वही आत्मा है जो इसमें प्रविष्ट हुआ मुर्दा को विदारण करके आकर के भूतों को नाम रूप देने के लिए जो प्रविष्ट हुआ था वही आत्मा है वही आत्मा यदि निर्धारण संभव इस तरह से निर्धारण हो जाएगा आत्मा का इसमें जो प्रविष्ट हुआ है हाँ, भूतों को स्थूलीभूत करने के लिए नाम रूप देने के लिए वही आत्मा है ऐसे संभव हो जाएगा निर्धारण हो जाएगा विचार अनुपत्ति विचार संभव नहीं आते निश्चय हो ही गया जो भूतों को स्थूलीभूत करने के लिए प्रविष्ट हुआ है वो आत्मा है ये समझा आ गई तो कहते हैं एवं अपनी अगर यहां प्रविष्ट हुआ को आत्मा मानेंगे तभी दो प्रविष्ट है एक पैर के अंगूठे से प्रविष्ट है और से एक मुर्दा से कौन होगा दोनों ठीक है एवं अभी ये जो प्रविष्ट हुआ जो व्यक्ति है उसको आत्मा मानेंगे शरीर में प्रविष्ट होने वाले को आत्मा मानेंगे तभी द्वयो प्रविष्टत्व या दो प्रविष्ट हैं एक शरीर से एक पैर से स्मरणमाणत्वा दो दो या प्रविष्ट है करके स्मरण हो रहा है पूर्व में स्मृति आई थी इसलिए न निर्धारणम निर्धारण नहीं हुआ कौन आत्मा है किस आत्मा को जानने से अमर हो जाना निर्धारण नहीं हुआ है न दो द्वयो प्रविष्टत्व महा इसलिए दोनों के प्रवेश का स्मरण करते हैं दिलाते हैं स्मरण किया उसको कहना चाहते हैं टिप्पणी तीन चार तीन में कहा भूताना मैंने संघात रूपे में प्रणयता जो भूतों को व्याकरण करना थूलीभूत करना मैंने भूत संघात रूप से जो परिणत भूत है उनको थूलीभूत करने के लिए प्रविष्ट हुआ ऐसा अर्थ निकाले व्याकरणार्थ मैंने स्वतादात्म्य न कथनात्मक मैंने उसने कहा ना सब भूतानी अभिव्यख्यत ऐसा आया था प्रविष्ट होने के बाद मैं शरीर से ही अपना नाम करने लग गया मैं देवदत्त हूं यज्ञ दत्त हूं ऐसे बोलने लग गया ऐसा आया था स्वस्मार्थ विविच ज्ञानार्थम कथनार्थम था अपने से अलग करके ज्ञान के लिए भी है कथन के लिए दोनों है पहले तो सब भूतानी अभ्यवेक्षत किम यह अन्य ऐसा और आगे कहा स एतमेव पुरुषम प्रमतम अपश्यत इदम आदर्शम वहां ये भी है विविध अपने से अलग करके भी कहा पे उसको ब्रह्म रूप से देखा आपने को स्वस्माद विविध ज्ञानार्थम मन कथनार्थम च अपने से अलग करके कथन के लिए भी है ये अच्छा तो आगे कहते एवं इत्यादि कहा एवं जिज्ञासा पूर्व अन्योन्यम प्रचराम इस प्रकार कौन आत्मा हो सकता है ऐसे जिज्ञासा पूर्वक एक दूसरे को पूछने वाले ब्रह्मवेत्ताओं का अतिक्रांत विशेष विषय स्मृति संस्कार जनता स्मृति आ जाएगा पूर्वोक्त जो विशेष को विषय करने वाली श्रुति है उस श्रुति के द्वारा संस्कार श्रुति जन्य संस्कार होगा संस्कार जन्य जो स्मृति होगी वो ऐसा स्मृति उत्पन्न हो गई अरे यहां तो दो आत्मा प्रविष्ट है ऐसा स्मृति उत्पन्न हो गई ये कहा ठीक है अतिक्रांत पूर्वम हो अतिक्रांत शब्द करता पूर्व में कथित पूर्वम हो यो विशेष जो जो विशेष बताया था देहे प्रविष्ट हो देह में प्रविष्ट आत्मा दो प्राणात्मा ये प्राण रूप है एक आत्म रूप है एक प्राण एक आत्मा दो आत्मा तद विषया श्रुतिजन्य अनुभव संस्कार जनिता उस प्राण और आत्मा को विषय करने वाली स्मृति वाक्य के द्वारा उत्पन्न जो अनुभव उस अनुभव जन्य जो संस्कार संस्कार जन्य स्मृति ऐसा स्मृति जग गई उनकी ये कहा ताम एवं स्मृति में तो दर्शित वही स्मृति किस रूप से जगी तो वही स्वरूप दिखाते हैं कैसा तम प्रपदाभ्याम प्राप्त पिता ब्रह्मणम पुरुषम एक स्मृति ऐसी है कि उस शरीर में पैर के अग्रभाव से प्राप्त हुआ इस शरीर में ये कहना चाहते हैं एक तो यह है कहा ठीक है तम इमम पुरुषम तम आगे इमम के साथ अन्वय है उस इस पुरुष को जैसे शरीर है इस तम इमम पुरुषम मन शरीरम प्रपदाभ्याम पादाग्राभ्याम ब्रह्म अच्छा अपर अपर ब्रह्म रूप प्राण प्रविष्ट जाता है इस शरीर में इस पिंड में पैर के अग्रभाग से पादाग्राभ्याम पैर के अग्रभाग से ब्रह्मा माने पर ब्रह्म रूप प्राण अपर ब्रह्म रूप प्राण जो अपर ब्रह्म रूप प्राण है ब्रह्म इमं पुरुषम प्राप्त ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म माने अपर ब्रह्म ब्रह्म माने अपर ब्रह्म ब्रह्म रूप प्राण प्रविष्ट प्राण प्रविष्ट हुआ यह अर्थ है टिप्पणी अभी टिप्पणी थी तीन छह नंबर की टिप्पणी माने पादाग्राभ्या माने पैर के अग्रवा पादा पाद अंगुष्ठ अग्राभ्या पैर के अंगूठे के अग्रभाव से प्रविष्ट होगा यानी इंद्रिय समुदाय जो प्राण के साथ आते हैं तो पैर के अंगूठे से आते हैं और आत्मा जो आएगा सिर को मुर्दा को विदारण करके आते दे रहे यही है अच्छा आगे कहते हैं अन्य से प्रवेश से स्मृति में आ दूसरे आत्मा जो शीर से प्रविष्ट हुआ आत्मा उसके लिए स्मृति देते हैं स एतम एवं सीमान विदार एक अमेर सीमान द्वारा प्राप्तता ऐसा है वो आत्मा जिसने सृष्टि की थी सारे शरीर आदि जी वो आत्मा इसी सीमा को विदारण करके इसके द्वारा प्राप्त हुआ ऐसा श्रुति व्याम लब्धम अर्थम आह श्रुति के द्वारा प्राप्त क्या दो श्रुति है प्राप्त अर्थ क्या आया एक पैर के अंगूठे से अग्रभाग से प्रविष्ट होगा बता रहे हैं शरीर से तो दो में से कौन आत्मा होगा निष्कर्ष क्या निकलेगा इसलिए कहते हैं एतम एवं पुरुषम द्वे ब्रह्मणी इसी शरीर में पुरुष माने शरीर इसी शरीर में द्वे ब्रह्मणी दो ब्रह्म है द्वे ब्रह्मणी इतर इतर प्रातिकूल्य प्रतिपन्न एक दूसरे के प्रतिकूल रूप से प्राप्त है एक पैर से आया है एक सिर से आया है प्रविष्ट है प्रतिबंध का ठीक है अत्र इति स्मृति भ्याम इति अध्याय यहां पर इति स्मृति भ्याम ये लगाना पड़ेगा ये एतम एवं लगाने के पहले अत्र यहां पर इति स्मृति भ्याम इति अध्याय ऐसा अध्याय करके इति स्मृति भ्याम इतर इतर प्रातिकूल्य इतर इतर अभिमुख अभिमुखतया एतम एवं पुरुष शरीर प्रपन्न एक दूसरे के प्रतिकूल रूप से इसी शरीर में प्राप्त है दोनों प्रविष्टे प्रतिबंध प्रविष्टे प्रविष्ट है द्वे ब्रह्मणी इति स्मृति जायते चंद्र हाँ, दो ब्रह्म यहां पर प्रविष्ट है ऐसा स्मृति हो गई उनको ऐसा अन्वय करना कहा न तो एतम एव इति अनेन एतम एव पुरुषम ब्रह्मतम अपश्यति वाक्यम ये नहीं समझना कि यहाँ एतम एव ये जो भाष्य में एतम एव पुरुषम आया ये नहीं कि वहां पूर्व में पूर्वाध्याय में आया था एतम एव पुरुषम ब्रह्म तम अपश्यत एकदम आदर्श उसको नहीं लेना है एकदम एवं पुरुषम के द्वारा यहाँ जो एतम ये पुरुषम आया इसके द्वारा वो नहीं लेना ये कहा न तो एतम एना एतम एव इति जो एतम एव वाक्य आया अभी इसके द्वारा ये एतम एव पुरुषम ब्रह्म तदम अपश्यत इस वाक्य को नहीं लेना और दूसरी बात या द्वे ब्रह्मणी में मुंडक उपनिषद के द्वे ब्रह्म की चर्चा भी नहीं करना द्वे ब्रह्म इत्यादि ना द्वे ब्रह्म वेदितव्य हाँ, मूर्तम चैवा मूर्तम से इत्यादि परम चैवा अपरम ये जो मुंडकोपनिषद वाला वो भी नहीं लेना द्वे ब्रह्मणी शब्द का था मानी एतम एवं पुरुषम के द्वारा ये भी नहीं लेना एतम पुरुषम ब्रह्म तत्व अवश्य ये वाक्य को नहीं लेना यहाँ और द्वे ब्रह्मणी शब्द से मुंडक भी नहीं लेना द्वे ब्रह्मणी वेदितव्य परम चैवा परम च इत्यादि नहीं लेना ये बताना वाक्य द्वयो प्रवेश मानतया उपनिष्ठम न भ्रमितव्य ये दोनों को प्रमाण रूप से यही उपन्यास किया है ये जो ये पुरुषम दे ब्रह्मणी ये जो कहा वो दोनों को नहीं देना कोई भ्रमित नहीं होना कि ये प्रमाण रूप से दोनों को लिया मंगल सिंह लिया है और एक पूर्व अध्याय का मंत्र लिया है ऐसा नहीं समझना आद्य वाक्य द्वयो प्रवेश प्रकृति यदि ऐसा लेना चाहेंगे तो एतम पुरुष में दो की चर्चा नहीं आएगी एतम पुरुषम ब्रह्म तत्म अपश्यप इसमें दो दो दो ब्रह्म नहीं आएंगे अच्छा हाँ मुंडक के हिसाब से दो ब्रह्म तो आएंगे किंतु द्वितीय द्वितीय में मुंडक के हिसाब लेंगे जब कोई लेना चाहेगा द्वे ब्रह्मणी से तो कहते हैं द्वितीय शब्द ब्रह्म परब्रह्मणो अभिधान हुआ शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म एक तो व्याकरण आदि शास्त्रों की चर्चा है अपर ब्रह्म और एक मान साध्य रूप में और साधन रूप में है साधन रूप में शब्दादि का कथन है शास्त्रादि की चर्चा अपर ब्रह्म रूप से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सब अपर ब्रह्म करके कहा और एक एक पर ब्रह्म इसलिए यहां पर वो भी नहीं घटेगा इस शरीर में घुसने वाला वो दो ब्रह्म ऐसा ब्रह्म नहीं हो सकते द्वितीय शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म अभिधान है ना मुंडक में तो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म का कथन है तयोर दो प्रवेश से महत्व तो होगा दो दोनों का प्रवेश में प्रमाण नहीं मिलता है शब्द ब्रह्म प्रविष्ट हुआ और पर ब्रह्म प्रविष्ट ऐसा प्रमाण नहीं मिलता सात आठ की टिप्पणी में कहते हैं यहां शब्द ब्रह्म माने क्या है वेद वेद की चर्चा है ऋग्वेद आदि की चर्चा है मुंडक में आठ बता तयो प्राण ब्रह्म वो दोनों में प्राण और ब्रह्म दोनों यहां प्रवेश है मानव ब्रह्म आगे तथा तयोर द्वयो कथम आत्मत्व संज्ञा आत्मत्व शंका इत्यता है कहते फिर भी प्राण और ब्रह्म दो आ गए यहां चलो मान लो ये शरीर में फिर भी आत्मत्व की शंका कैसी हो रही दोनों में प्राण में आत्मत्व की शंका कैसे आ गई ये शंका आ गई तथापि फिर भी हाँ, एक पादाग्र के अग्र पाद के अग्रभाग से है एक मुर्दा से है फिर भी आत्मा की शंका कैसे आ रही है उसमें शंका है तथापि तयोर द्वयो कथम आत्म शंका ये दोनों में आत्मा शंका कैसे नवमी टिप्पणी में कहा दो प्रविष्टत्व भी दोनों प्रविष्ट होने पर भी आत्मा करके कैसे शंका होगी शंका तो कहा तेज इत्यादि कहा था तेज अश्य पिंड से आत्मभूत है ये दोनों जो पैर के अग्रभाग से प्रविष्ट और मूर्धा से प्रविष्ट दोनों ये पिंड बने शरीर के आत्मस्वरूप है वो नहीं रहेंगे तो शरीर काम ही नहीं करेगा दोनों चाहिए आत्मा भी चेतन भी चाहिए प्राण भी चाहिए तेज वो दोनों के दोनों कैसे हैं पिंड से आत्मभूत है पिंड के स्वरूप स्वरूप है शरीर का ठीक है तय अन्य ने बिना शरीर स्थित अभाव और दोनों में से एक के बिना कोई भी हो दोनों के बिना दोनों में से एक के बिना ये शरीर की स्थिति होनी संभव नहीं इसे भूत है आप चेतन भी रहो प्राण भी रहो शरीर क्या रहेगा कुछ नहीं रहेगा तय अन्य तरण प्राण और चेतन आत्मा दोनों में से कोई एक से बिना शरीर स्थिति अभाव तय और आत्मा प्रसंगा इत्यादि इसलिए आत्म प्रसंगा आ रही वो है कि यह है एवं विचार अपेक्षितम आत्म द्वय स्मृति मुक्ता इसलिए विचार के अपेक्षित यहां दो आत्मा की चर्चा है एक प्राणात्मा एक मुख्य आत्मा इसके विचार कहते हैं तयोर अन्यतर की कहा तयोर अन्यतर आत्मा उपास्य भक्ति वो दो में से एक आत्मा उपास्य होगा एक पैर के अग्रभाग से प्रविष्ट है एक मुर्दा का विचार अगर प्रवेश है तो ये शरीर की स्थिति के लिए दो में से कोई एक की आवश्यकता है दो में कोई आत्मा हो सकता है कौन आत्मा है विचार करने लगेगा ठीक है आत्मा वही इदम एक एव इति एक ज्ञेयत्व तो प्रमात न द्वयोर उपास्य दो तो उपास्य हो नहीं सकता क्यों आत्मा वही इदम एक अग्रे आशी यहां से आरंभ हुआ है उपनिषद आत्मा ही था सृष्टि के पूर्व में और कुछ नहीं था दो आत्मा की चर्चा ने एक लगाया आत्मा वही इदम एक एव अग्रे आशीत एवकार लगाया एक शब्द लगाया हुआ है इसलिए अन्य आत्मा दो आत्मा तो हो नहीं सकता तो दो में से कौन है आत्मा विचार करना है उपासना आत्मा वही इधम एक एवं एक तो एक ही आत्मा जानने योग्य है ऐसा कहा न दो उपास्य तुम दो आत्मा उपास्य हो नहीं सकता यहाँ एक निश्चय है उनको इसलिए कौन आत्मा का उपासना कर दिए चिंतन किसका करे प्राण रूप आत्मा का या मुर्दा से प्रविष्ट आत्मा का इस चिंतन इसलिए कहा यो अत्र उपास्य कस आत्मा इसमें उपास्य अत्र माने शरीर में उपास्य आत्मा क्या है विशेष निर्धारणार्थम पुनर्न्योन्यम प्रपत्यो विचारण कहा विशेष निर्धारण के निश्चय के लिए एक दूसरे को पूछा विचार करने लगे कहा ठीक है यह उपास्य आत्मा सहकह जो उपास्य आत्मा है वो कौन है प्रपक्ष कतरस आत्मा यदि वाक्य ने किस आप, किस वाक्य से पूछा गया कतरस आत्मा वो आत्मा कौन है एक प्रश्न है कहा आगे निष्कर्ष अपने आप निकालेंगे समय हो गया है ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित प्रकाशीतमेनादीतेनाहोरात्रां सन्दरामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं